और तुम उन लोगों यानी काफिर दुश्मन का पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो उनको भी उसी तरह तकलीफ पहुंची है जैसे तुम्हें पहुंची है और तुम अल्लाह से उस बात के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं और अल्लाह इल्म का भी मालिक है हिकमत का भी मालिक